बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक बीस स्वीकार की आग भाग दो नानसेन ने कहा अध्ययन नहीं विचारण नहीं जोसु ने पूछा फिर जानेंगे कैसे कि ठीक क्या है तो नानसेन ने उत्तर दिया मार्ग दृष्ट जगत का हिस्सा नहीं है न ही वह अदृष्ट जगत का हिस्सा है पहचान ब्रह्म और गैर पहचान व्यर्थ यदि तुम असंदिग्ध होकर सच्चे मार्ग पर पहुंचना चाहो तो आकाश की तरह अपने को उसकी पूरी उन्मुक्तता में छोड़ दो पूरी स्वतंत्रता में छोड़ दो और उसे न शुभ कहो और न अशुभ बड़े कीमती सूत्र मार्ग न तो ग्रस्त जगत का हिस्सा है जिन रास्तों को तुम देखते हो उन रास्तों में से कोई भी रास्ता आत्मा तक नहीं जाता वे सभी रास्ते बाहर ले जाते उनमें से कोई रास्ता भीतर की तरफ नहीं जाता तुम दुनिया भर के रास्तों पर चलते रहो तो भी तुम अपने भीतर नहीं पहुंचोगे रास्ते मात्र जो दिखाई पड़ते हैं बाहर ले जाते तो विचार कहेगा तो फिर इससे विपरीत सही होगा अगर दृश्य रास्ते उस तक नहीं ले जाते तो वो अदृश्य का हिस्सा होगा विचार हमेशा विपरीत में सोचता है अगर ये सही नहीं है तो इससे उल्टा सही होगा अगर हां गलत है तो नहीं सही होगा अगर नहीं गलत है तो हां सही होगा अगर नास्तिक गलत है तो आस्तिक ठीक होगा अगर आस्तिक गलत है तो नास्तिक ठीक होगा लेकिन ठीक सदा दोनों के पार है ना तो नास्तिक ठीक है ना आस्तिक ठीक है वो तो एक ही गलती के दो छोर है वो तो एक ही जिद के दो हिस्से वो एक ही नासमझी के दो पहलू जो परम धार्मिक है वो ना तो आस्तिक होता ना नास्तिक इसलिए बुद्ध और महावीर के संबंध में बड़ा भ्रम है बहुत लोग समझते हैं वो आस्तिक हैं बहुत लोग समझते हैं वो नास्तिक हैं और वो खुद चुप जैन समझते हैं महावीर से बड़ा आस्तिक कहां खोजोगे हिंदू समझते हैं कि महावीर से बड़ा नास्तिक और कौन होगा बौद्ध सोचते हैं बुद्ध महाआस्तिक लेकिन गैर बौद्ध सोचते हैं इस आदमी सब भ्रष्ट किया यह आदमी महानास्तिक यह आदमी बड़ा था बड़ा बहुमूल्य था इसलिए हिंदुओं ने इसे दसवां अवतार स्वीकार किया इसको इंकार करना भी मुश्किल है आदमी बच नहीं था इसको एकदम इंकार करोगे तो तुम्हें खुद ही लगेगा कि कुछ भूल हो रही इतना बड़ा आदमी इस मुल्क में पैदा हुआ इसको हिंदू अपने अवतारों में से छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि तो छोड़ने से इसका कोई नुकसान ना होगा उनकी फेरिस्त कमजोर हो जाएगी वो जो लिस्ट बनाए हुए अवतारों की उसकी ही कीमत गिर जाएगी बुद्ध का कोई हर्जा नहीं लेकिन बुद्ध से ज्यादा जगमगाता आदमी पैदा नहीं हुआ इस जमीन पर इस मुल्क में इसको छोड़ना हिंदुओं के लिए दुखद है ये दुकान के लिए नुकसान होगा इस आदमी के साथ बड़ी क्रेडिट जुड़ी तो इसको स्वीकार किया दसवां अवतार लेकिन ये आदमी खतरनाक थी क्योंकि इसको साधारण अर्थों में आस्तिक नहीं कह सकते ये कहता है कोई ईश्वर नहीं इसको साधारण अर्थों में आत्मवादी भी नहीं कह सकते ये कहता है कोई आत्मा नहीं इस आदमी को साधारण अर्थों में आध्यात्मिक तक नहीं कह सकते क्योंकि ये कहता न कोई मोक्ष न कहीं जाना है कुछ भी नहीं है परम शून्य आस्तिक नहीं आत्मवादी नहीं अध्यात्मवादी नहीं अवतार भी मानने से बचा नहीं जा सकता इसकी कीमत ज्यादा है इसको छोड़ भी नहीं सकता तो हिंदुओं ने एक कथा गढ़ी कि बुद्ध अवतार है अरे बड़ी मीठी कथा है हिंदुओं की कि जब भगवान ने जगत बनाया तो उसने नर्क भी बनाया स्वर्ग भी बनाया फिर भगवान के अवतार हुए नौ अवतार बुद्ध के पहले और उन्होंने लोगों को धर्म समझाया लोग इतने धार्मिक होते गए कि वो सभी स्वर्ग चले गए नर्क में शैतान बैठा है खाली हाथ लंबा समय बीतता जाता कोई आता नहीं शैतान ने भगवान से कहा कि बहुत इसका अर्थ क्या प्रयोजन क्या मुझे किस लिए बिठा रखा जो दफ्तर चलता ही नहीं और जहां कोई कभी आता ही तुम्हारे अवतार सभी को मुक्त किए दे रहे हैं तो बंद करो मुझे वहां किस लिए बिठा रखा तो भगवान ने बुद्ध को भेजा ताकि वो लोगों को भटकाएं और लोग नर्क जा सकें और शैतान खाली ना बैठा छोटे मोटे आदमी से ये भटकाना भी नहीं हो सकता क्योंकि राम ने जिनको चलाया हो रास्ते पर कृष्ण ने जिनको मार्ग दिखाया हो उनकी हैसियत का बल्कि उनसे भी बड़ी हैसियत का आदमी चाहिए जो भटकाए इसलिए दसवा अवतार बुद्ध का हुआ लोगों को भटकाने के लिए हिंदू मन ने बड़ी तरकीब से काम लिया गणित पूरा ठीक बिठाया इस आदमी को स्वीकार भी नहीं करना और इस आदमी को इंकार करके नुकसान भी नहीं उठाना लेकिन बुद्ध के साथ तकलीफ क्या है तकलीफ यही है कि परम धार्मिक व्यक्ति हां और ना में विभाजित नहीं होता तुम उसे किसी पक्ष में नहीं रख सकते तुम उसे विपक्ष में नहीं रख सकते क्योंकि वो निष्पक्ष होता है उसका कोई पक्षपात नहीं तो मार्ग न तो दृश्य जगत में मन तत्काल कहेगा दृश्य में नहीं है तो अदृश्य में होगा लेकिन नानसेन ने कहा नहीं न तो दृश्य में मार्ग है ना अदृश्य में मार्ग तुम में है ये बड़े मजे की बात है तुम न तो दृश्य हो और न अदृश्य तुम दोनों के पार हो क्योंकि तुम्हें देखा भी नहीं जा सकता और तुम ये भी नहीं कह सकते कि मैंने अपने को कभी देखा नहीं ये दोनों बातें गलत होंगी तुम अपने को जानते तो हो पहचानते भी हो क्योंकि तुम अपने को ही नहीं पहचानोगे तो तुम और क्या पहचानोगे तुम्हारे होने का तुम्हें प्रतिफल पता चल रहा है लेकिन तुम स्पष्ट रूप से यह भी नहीं कह सकते कि मैंने अपने को जान लिया है क्योंकि जानने के लिए दूरी चाहिए जानने के लिए दूसरा चाहिए स्वयं को कोई कैसे जानेगा आत्मज्ञान की बड़ी कठिनाई है न तो वो ज्ञान जैसा है और न अज्ञान जैसा है वो दोनों से भिन्न है वो ज्ञान जैसा साफ है और अज्ञान जैसा रहस्यपूर्ण है वो प्रकाश जैसा स्पष्ट है और अंधेरे जैसा गहन वो दोनों इसलिए आत्मज्ञान न तो दृश्य जगत का हिस्सा है और न अदृश्य जगत का दोनों को अतिक्रमण कर जाता है ट्रांसेंडेंटल है दोनों के पार है नानसेन ने कहा न तो दृश्य का हिस्सा और न अदृश्य का पहचान भ्रम बड़ी मजे की बात कह रहा नानसेन पहचान भ्रम और गहर पहचान व्यर्थ अगर तुमने कहा कि मैंने पहचान लिया तो तुम गलती में हो क्योंकि पहचानेगा कौन वहां तुम अकेले हो दूसरा नहीं है जो पहचान ले और अगर तुमने कहा कि मैं अभी तक पहचान नहीं पाया तो भी तुम व्यर्थ अगर तुम कहो मैंने जान लिया तो गलत और अगर तुमने कहा कि मैंने नहीं जाना तो भी गलत पहली बात समझने तो दूसरी मुश्किल हो जाती दूसरी मान लें तो पहली मुश्किल हो जाती ये हमारे मन का द्वंद है अगर कोई कहता है कि मैंने आत्मा को जान लिया नानसेन कहता है गलत क्योंकि जानने वाला और जाना जाने वाला एक ही है दावा कौन करेगा हमारा मन कहता है विपरीत बात सही होगी तब उस आदमी को कहना चाहिए कि मैंने अभी तक जाना नहीं लेकिन वो भी ठीक नहीं है क्योंकि जो कहे मैंने अभी तक अपने को जाना नहीं इस कहने में ही जानना घटित हो जाएगा जिसने इतना जान लिया उसे जानने को और क्या बचा इसलिए सॉक्रेटिस कहता है जिसने जान लिया कि मैं नहीं जानता वो ज्ञानी हो गया बड़ी उल्टी बात हो गई कहो हां तो आधा कहो ना तो आधा और तुम पूरे हो तुम दोनों हो तो या तो हां और ना एक साथ कहो या हां और ना को एक साथ इंकार कर दो लेकिन चुनो मत आधा आधा मत करो पहचान भ्रम है गैर पहचान व्यर्थ यदि तुम असंदिग्ध होकर सच्चे मार्ग पर पहुंचना चाहते हो तो आकाश की तरह अपने को उसकी पूरी उन्मुक्तता में छोड़ दो अगर तुम सही मार्ग पर पहुंचना चाहते हो तो तुम सही और गलत का विचार मत करो अन्यथा तुम कभी भी ना पहुंचोगे तुम बैठे ही रहोगे जहां हो वहीं अगर तुम सही मार्ग पर पहुंचना चाहते हो तो तुम आकाश की तरह अपने को उन्मुक्त छोड़ दो तुम खोजो ही मत तुम चुनो ही मत तुम पक्षियों की भांति हो जाओ जिनका कोई मार्ग नहीं होता आकाश में कोई मार्ग तो नहीं कोई बंधे बंधाए हंसते नहीं पक्षी उड़ता पद पदचिन्ह भी नहीं छूटते तुम आकाश की भांति मुक्त हो जाओ अपने को पूरी स्वतंत्रता में छोड़ दो और इसे न शुभ कहो और न अशुभ क्योंकि जैसे ही स्वतंत्रता का ख्याल आता है तुम्हारा मन भी तत्काल कहेगा कहीं बुराई हो गई फिर अगर स्वतंत्र छोड़ दिया मैं लोगों से कहता हूं छोड़ दो स्वतंत्र तत्ण वो पूछते हैं फिर नीति अनिति फिर शुभ अशुभ अगर चोरी करने का मन हुआ तो फिर क्या करें अगर स्वप्न छोड़ा और चोरी करने का मन हुआ तो फिर क्या करें नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा नहीं तो चोरी हो जाएगी नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा नहीं तो गलत में गति हो जाएगी इसलिए तत्क्षण नानसेन कहता है और उसे न शुभ कहो और न अशुभ उन्मुक्त छोड़ दो जैसे तुम नियंता नहीं हो बड़ी कठिन बात है इसका अर्थ हुआ कि अगर क्रोध आए तो आने दो इसका अर्थ हुआ घृणा आए तो आने दो तुम रोको मत तुम होने दो जो होता है निश्चित ही जो फल होगा वो भी भोगो हमारी कठिनाई क्या है क्रोध से हमें तकलीफ नहीं फल से तकलीफ है अगर तुम क्रोध करो पुरस्कृत किए जाओ और तुम जिस पर क्रोध करो वही तुम्हारे चरण छुए और तुम जिस पर क्रोध करो वही फूल मालाएं पहनाए तो तुम कभी भूल के ना सोचोगे कि क्रोध पाप है या क्रोध बुरा है तब तो तुम क्रोध का शिक्षण लोगे तब तुम गुरुओं के पास जाओगे और उनसे कहोगे कि हमें दीक्षित करो ऐसे क्रोध में जैसा कोई कभी ना हुआ न क्रोध से तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही तकलीफ तुम्हें हो रही क्रोध के परिणाम से क्रोध का परिणाम दुख है अगर तुम उन्मुक्त अपने को छोड़ते हो तो उसका अर्थ हुआ जो तुम कृत्य कर रहे हो वह भी और जो तुम फल भोगोगे वह भी दोनों में उन्मुक्त रहो क्रोध किया तो क्रोध हुआ फिर क्रोध का फल भी भोगना पड़ेगा उसे भी तुम पूरी उन्मुक्ता से भोग लो तुम बाधा न डालो तुम्हारे जीवन में क्रांति निश्चित घट जाएगी क्योंकि तुमने अगर क्रोध किया और उसका फल भी भोगा और इन दोनों को तुमने देखा और नियंत्रण न किया क्योंकि तुम जब नियंत्रण में लग जाते हो तभी तुम देखने से चूक जाते तब तुम्हें इनका जहर पूरा दिखाई पड़ेगा ये तीर तुम्हारी छाती में छिदा हुआ दिखाई पड़ेगा देर न लगेगी तुम इस तीर को निकाल के फेंक दोगे तुम सोचोगे भी नहीं क्रोध और उसके परिणाम दोनों तुमसे गिर जाएंगे लेकिन यह क्रांति तुम्हारे किए ना होगी यह क्रांति तो तुम जब अपने को उन्मुक्त छोड़ोगे तभी घटित होगी उन्मुक्तता अंत में परम आनंद आएगी प्रारंभ में बहुत दुख लाएगी उस दुख से बचने के लिए तुम नियंत्रण करते हो तुम डरे डरे जीते हो क्या होगा घर का क्या होगा गृहस्थी का अगर किसी के प्रेम में पड़ गए क्या होगा पत्नी का क्या होगा पति का तुम डरे डरे जी रहे हो तुम इतने डरे हुए जी रहे हो कि तुम्हारे जीने को जीना कहा ही नहीं जा सकता तब तुम डरे डरे मरोगे तुम न तो ठीक से जिए और न ठीक से मरे न तुम्हारे जीवन में कोई ज्योति थी और न तुम्हारे मरने में कोई त्वरा होगी न तो तुम्हारा जीवन तूफान था और न तुम्हारी मृत्यु में कोई गति होगी तुम एक लाश की भांति हो जो घसीटे जा रहे हो जब मानसेन कहता है छोड़ दो आकाश की तरह अपने को उसकी पूरी उन्मुक्तता में पूरी स्वतंत्रता में और न तो उसे शुभ कहो और ना अशुभ न तो कहो कि यह ठीक है और न कहो यह गलत सिर्फ इतना ही जानो कि यही नियति है यही मेरे होने का स्वभाव यही मेरा ढंग है और इससे अन्यथा न कभी मैं हो सकता हूं न कभी होने की कोई बात उठा सकता हूं ये मेरा ढंग है शुरू में बड़ी अड़चन आएगी वही सन्यास की अड़चन वही साधक की तकलीफ शुरू में बड़ी अड़चन आएगी क्योंकि सब तरफ तुमने झूठ बोल रखा है सब तरफ तुमने अपना नियंत्रित चेहरा दिखलाया तुमने अपना असली चेहरा तो प्रकट ही नहीं किया तुम कभी सच तो बोले नहीं जब तुम्हें रोना था तब तुम हंसे जब तुम्हें गाली देनी थी तब तुमने प्रशंसा की तुमने चारों तरफ ऐसा असत्य का जाल फैला रखा है कि आज अचानक तुम ही घबराओगे कि कैसे उन्मुक्त हो जाऊं ये जाल किसी और ने बनाया होता तो शायद तुम छलांग भी लगा जाती ये तुमने ही रचा है बड़ी मेहनत से रचा है अब तुम उसी में घुटे जा रहे हो उसी में तुम्हारी गर्दन दबी जा रही है संन्यास का अर्थ है बिना भय के बिना परिणाम की चिंता के बिना ठीक और गलत के विचार के जीवन जहां ले जाए वहां जाने की तैयारी नर्क ले जाए तो नर्क जाएंगे लेकिन अगर तुम इतने उन्मुक्त हो तो तुम्हारे लिए नरक नहीं अगर तुम इतने स्वच्छंद हो इतने स्वतंत्र हो तब तुम्हारे लिए पूरा आकाश खुला है तुम्हारे लिए कोई काराग्रह नहीं कहते हैं कि यह शब्द सुनकर सिर्फ शब्द सुनकर सु ज्ञान को उपलब्ध हो गया तुम भी हो सकते हो पर मैंने कहा और तुमने सोचना शुरू कर दिया देखो अभी तुम सोच रहे हो मैंने कहा स्वतंत्र हो जाओ तुम भीतर संकुचित हो गए तुमने कहा बात भला ठीक हो अपने काम की नहीं घर गृहस्थी वाले आदमी समाज दूसरे क्या कहते हैं इसको भी सोचना पड़ता है मैंने सुना है एक रेगिस्तान में दो ऊंट यात्रा कर रहे थे दोनों पसीने से तरबतर कंठ प्यास से अवरुद्ध लेकिन दोनों प्रतीक्षा कर रहे कि दूसरा कहे कि प्यास लगे क्योंकि इज्जत का सवाल है किताबों में आदमियों ने लिखा है ऊंटों ने तो किताबें लिखी नहीं आदमियों ने लिखा है कि ऊंट 36 36 घंटे तक बिना पानी पिए चल सकता तो इज्जत का भी सवाल है और जो पहले कहे वो हार स्वीकार करे आखिर एक ने कहा बहुत हो गया ना I don't care what others say I am थर्स्टी अब मैं फिक्र नहीं करता दुनिया क्या कहती है मुझे प्यास लगी कब तुम हिम्मत जुटाओगे कब तुम कहोगे कि दुनिया क्या कहती है इसकी अब मैं चिंता ना करूंगा अब मैं तुम्हारे ढंग से अपने को बनाऊंगा नहीं अब मैं जो हूं उसे मैं स्वीकार करता हूं मुझे प्यास लगी पहली दफा ईमानदारी तुम्हारे जीवन में पैदा होगी पहली दफा प्रमाणिक आत्मा का जन्म होगा अन्यथा तुम एक लंबी झूठ हो कोई स्वीकार नहीं करना चाहता कि मुझसे कोई भूल हुई तुम सोचते हो निरंतर कि कोई और कारण है जिसकी वजह से तुम दुख में हो यह तुम कभी स्वीकार नहीं करना चाहते कि तुम्हारी ही भूलों का इकट्ठा जोड़ है भूल तो कोई स्वीकार करना ही नहीं चाहता मुल्ला नसरुद्दीन का पूरा परिवार उससे परेशान था दफ्तर के आदमी परेशान थे नौकर नौकर परेशान थे क्योंकि वो अपने को इनफॉलिबल वो समझता था मुझसे कभी कोई भूल हुई नहीं और ना हो सकती ऐसा आदमी बहुत दुष्ट हो जाता है जिसको ऐसा ख्याल हो उसके पास रहना बड़ा कठिन मामला है क्योंकि उससे भूल कभी होती नहीं जब भी भूल हो तुम ही से होगी उसकी भूलें भी तुम्हारे कंधों पर पड़ेंगी आखिर एक दिन एक आदमी बहुत ही परेशान हो गया और उसने कहा कि नसरुद्दीन एक सवाल पूछना कभी जिंदगी में कभी एक हाथ बार भी तुमसे भूल हुई नसरुद्दीन ने कहा एक बार मुझसे भूल हुई वो आदमी भी सुनकर चौंका कि इतना भी स्वीकार कर ले इसकी भी आशा नहीं थी उसने बहुत उत्तेजित होकर पूछा वो कौन सी घटना है जरूर कहो नसरुद्दीन ने कहा एक बार मैंने सोचा कि मुझसे भूल हुई लेकिन हुई नहीं थी <laughs> बस वही एक भूल तुम्हारे चारों तरफ भूलों का तांता है और भूलों के तांते का आधार यह है कि तुम जो हो उससे अन्यथा दिखलाने की कोशिश कर रहे हो चोर साधु की तरह अपने को प्रकट कर रहा है बेईमान ईमानदार की तरह अपने को प्रकट कर रहा है धोखेबाज भोलेपन का आवरण लिए लेकिन तुम किसी और को कष्ट नहीं दे रहे हो पक्का समझ लेना ये सब झूठ तुम्हारी ही गर्दन पर कस गया है जब नान से भी कहता है छोड़ दो उन्मुक्त आकाश में अपने को तो वो ये कह रहा है तुम फिक्र छोड़ो कि लोग क्या कहते हैं तुम फिक्र छोड़ो कि सही क्या है गलत क्या है तुम इतनी ही फिक्र करो कि तुम्हारे लिए स्वाभाविक क्या है तुम अपने स्वभाव के पीछे चलो स्वभाव का अनुगमन संन्यास और स्वभाव में लीन होने की प्रक्रिया का नाम सहज योग वो जो कबीर कह रहे हैं साधो सहज समाधि भली वो यही कह रहे हैं कि असहज हो कि तुम बड़े कष्ट में पड़ गए हो व्यर्थ कष्ट झेल रहे हो एक झूठ से दस झूठ पैदा होते एक को बचाओ दस झूठ खड़े करने पड़ते एक में फंसे थे दस में फंस जाते और ये जाल अंतहीन है कब तुम साहस करोगे और प्रमाणिक हो जाओगे और ध्यान रहे प्रमाणिक होना कोई नियंत्रण नहीं है प्रमाणिक होने का मतलब ये नहीं कि तुम बेईमानी छोड़ो और ईमानदार हो जाओ चोरी छोड़ो साधु हो जाओ प्रमाणिक होने का अर्थ तुम जो हो अगर तुम चोर हो तो स्वीकार कर लो कि ठीक मैं चोर हूं मुझे प्यास लगी तुम अपने हृदय को खोल दो ढांको मत जिस दिन तुम अपने हृदय को खोल दोगे और ढांकोगे नहीं चाहे शुरू में तुम्हें अड़चन हो जल्दी ही तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो गई और जब कोई इतना प्रमाणिक हो जाता है तो सारे जगत से चारों तरफ से उस पर फूल बरसने लगते प्रमाणिक का सम्मान है झूठ का कोई सम्मान हो नहीं सकता तुम कितना ही इंतजाम करो तुम जिस कोशिश में लगे हो उसमें तुम हारोगे झूठ जीत नहीं सकता उसके पास पैर नहीं है चलने को प्राण भी नहीं है श्वास लेने को उन्मुक्त छोड़ दो पूरी स्वतंत्रता में छोड़ दो और उसे ना शुभ कहो ना अशुभ कहते हैं ये शब्द सुनकर जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए तुम भी हो सकते हो जो जोशु के साथ घटा वो तुम्हारे भीतर भी घट सकता है क्या घटा जोशु को उसे दिखाई पड़ गई ये बात कि ये सच है जीवन का दुख क्या है कि मैं जो होने को हूं उससे अन्यथा होने की कोशिश कर रहा हूं कमल का फूल गुलाब होना चाह रहा है गुलाब का फूल कमल होना चाह रहा है दोनों कष्ट में पड़े जो मैं हूं उससे अन्यथा की कोशिश नरक है जो मैं हूं उसका स्वीकार मोक्ष है भय क्या है कौन क्या बिगाड़ लेगा किसके हाथ में क्या है बिगाड़ने को तुमसे कोई क्या छीन लेगा लेकिन चारों तरफ से तुम डराए गए हो पूरा समाज भय पर खड़ा है और इतना भय कि तुम इंच भर भी कदम नहीं हिला सकते सब तरफ से भयभीत हो कप रहे हो इस कंपन से कहीं सत्य का कोई मिलन हो सकेगा मत कपो और इस कंपन ने तुम्हें कुछ दिया भी नहीं इस भय से तुम्हें कुछ मिला भी नहीं कोई निधि भी मिल गई होती तो भी कुछ था कुछ भी नहीं मिला है सिर्फ तुमने खोया ही खोया है अगर सोचो मत तो इसी क्षण तुम उतार के रख दे सकते हो सब क्योंकि जिसको तुम समझ रहे हो उसने तुम्हें पकड़ा है उसने तुम्हें पकड़ा नहीं तुम ही उसे जोर से पकड़े हुए तुम्हारे छोड़ते ही संसार गिर जाएगा कहते हैं ये शब्द सुनकर जोशु ज्ञान को उपलब्ध हो गया मुश्किल लगता है मात्र सुनकर पर उसने सुना होगा और अगर तुम न हो पाओ सुनकर तो समझना कि तुमने सुना नहीं तुम सोचने लगे तुम ज्यादा होशियार हो जोशु से होशियारी में तुम चूकोगे जोशु बोला भाला रहा हो उसने थोड़े हाथ पर तड़फड़ाए उसने कहा कि अध्ययन करें उसने कहा अध्ययन न करेंगे तो फिर भटक ना जाएंगे लेकिन नानसिंह की बात उसे दिखाई पड़ गई है सत्य एक क्षण में दिखाई पड़ सकता है बस एक ही शर्त कि उस क्षण तुम सोचो मत जरा सा विचार और बर्तन शुरू हो जाता है तुम दूर निकलना शुरू हो गए तुम बड़ी दूर पहुंच गए जरा सा सोच बड़ी दूर ले जाता है जरा सा असोच तत्ण तुम्हें स्वयं से मिला देता है न सोचने की कला ध्यान है सोचने की कला संसार है जोशु ने सोचा नहीं सुना देखा नानसेन की गंध ली यह आदमी एक उन्मुक्त आकाश था यह आदमी एक महाशून्य था सामने बैठे वाले आदमी से कोई सिद्धांत नहीं बोल रहे थे यह किन्हीं शास्त्रों के लिए गवाहियां नहीं दे रहा था यह आदमी अपने अनुभव से कह रहा था ऐसे ही इसने भी जीवन के सत्य को पाया है ऐसे ही एक दिन थक कर ऊब कर इसने सब बंधन उतार के रख दिए थे जिन्हें इसने अब तक आभूषण समझा था पहचान लिया था कि वे जंजीरें उनको गिरा दिया था खुले आकाश की तरह हो गया था सोचना बंद कर दिया कि कोई क्या कहेगा प्यास थी तो प्यास थी भूख थी तो भूख थी वासना थी तो वासना थी क्रोध था तो क्रोध था इसने अंगीकार कर लिया आपने को इसने बदलने की व्यर्थ कोशिश छोड़ दी ये सहज योगी हो गया था और जैसे ही कोई सहजयोग को उपलब्ध होता है क्रांति घटित हो जाती जो जन्मों जन्मों से नहीं घटा वो दो शब्दों को सुनकर घटित हो जाता क्योंकि तब तुम देखते हो अपने पूरे तथ्य को आग लगा हुआ भवन सब तरफ जलता हुआ फिर क्षण की देरी नहीं लगती समय नहीं लगता तुम कूद कर बाहर हो जाते हो तुम देखते हो सामने ही खड़ी मृत्यु को तुम छलांग लगा के मार्ग से हट जाते ये घट सकता है तुमसे निरंतर कहे जाता हूं कुछ वो सिर्फ इसी आसान में कि किसी दिन तुम सुनोगे तब करने को कुछ भी ना बचेगा ध्यान रखना तुम सोचते हो सुन के फिर कुछ करना है सुनेंगे फिर हिसाब लगाएंगे फिर अपने काम का चुनेंगे फिर उसके अनुसार आचरण बनाएंगे तब तुम गलती में हो मैं तुमसे कहता हूं सुन के ही घट सकता है कुछ और करने को नहीं बच रह जाता पर सुनना सुनते वक्त बस सुनना वहां विचार की छोटी सी भी तरंग ना हो जो विकृत करे कहते हैं ये शब्द सुनकर जोशु ज्ञान को उपलब्ध हो गया तुमने भी ये शब्द सुने अपने भीतर देखना तुम सोचने लगे और ये शब्द ऐसे हैं कि सोच पैदा होता है ये शब्द जटिल चोट करने वाले नानसिंह जैसे लोग हमेशा शॉक ट्रीटमेंट में भरोसा करते एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा हाँ, आप कहते हैं सब स्वीकार कर लो और मैं वैश्यागामी हूं तो मैंने कहा स्वीकार कर लो मत छिपाओ अंगीकार कर लो वैश्यगामी हो छिपाने से मिटता भी नहीं मिटाने की कोई जरूरत भी नहीं वैश्य का क्या कसूर है और तुम भी क्या कर सकते हो जैसे हो हो अगर कोई कसूरवार भी है कभी तो भगवान हो तुम स्वीकार कर लो उस आदमी ने कहा आप क्या कहते वैश्यागामी वो भी स्वीकार करने को राजी नहीं वैश्यलामी होने को राजी है उसमें कोई तकलीफ नहीं लेकिन स्वीकार करने को राजी नहीं उसने कहा आप क्या कहते हैं फिर तो मैं नष्ट ही हो जाऊं अभी तो एक आशा है कि आज नहीं कल संभाल लूंगा और आप कहते हैं स्वीकार कर लो कब से संभाल रहे हो मैंने पूछा कोई बीस साल तो हो ही गए ताकत पहले ज्यादा थी अब कम होती जा रही ज्यादा ताकत में बाहर ना निकल पाया कम ताकत में कैसे निकल पाओगे उसने कहा कुछ भी हो लेकिन आप आशा तोड़ देते हैं मैं आशा तोड़ना चाहता हूं क्योंकि आशा ही तुम्हारे पाप का मूल है इसलिए तुम कल के भरोसे आज वैश्यागामी हो क्योंकि हर्जा क्या है कल ठीक हो लेंगे जल्दी भी क्या है एक शराबी शराब पी रहा है और किसी ने उससे कहा कि जानते हो क्या कर रहे हो पता है ये तुम क्या पी रहे हो दिस इज स्लो पायजन ये आहिस्ता आहिस्ता मारने वाला जहर है उस आदमी ने कहा but I am not in a hurry मैं कोई जल्दी में भी नहीं हूं होगा धीरे धीरे मारने वाला क्योंकि मैं जल्दी में कहा तुम अगर स्थगित कर पाओ तो तुम्हें सुविधा मिल जाती कल कल तुम्हारा सुरक्षा का आधार है चोर आज हो कल अचोर हो जाओ आज असाधु हो कल साधु हो जाओ आज पापी हो कल पुण्यात्मा हो जाओ यह कल ही तुम्हारे सारे पापों को बचा रहा है इसकी आशा में ही तुम आज पापी होने की सुविधा पा सके हो मैं तुमसे कहता हूं कल भी तुम होने वाले नहीं तुम पापी हो तुम पापी हो और आज के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई समय नहीं जब पापी ही हो तो पूरी तरह कम से कम पापी ही हो जाओ और कल पुण्यात्मा होना है जब कल आएगा तब कल देख लेंगे कल के पुण्यात्मा को आज क्यों बीच में लाते हो कल के पुण्यात्मा को आज बीच में लाने से आज के पापी को पापी का दंश कम हो जाता पीड़ा कम हो जाती आग फीकी पड़ जाती अंगारा राख में दब जाता छलांग नहीं हो पाती आज के पापी को पूरा पापी होने दो मत कहो बुरा मत कहो भला जो है है इस तथ्य को पूरी तरह जी लो तो मैं तुमसे कहता हूं कि जो जोशु को घटा वो तुम्हें भी घट सकता है आज इतना है